ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا अला हबीबी का खैर खल के कुल्लिमी आंखों को नूर दिल को सरूर मिलता है आंखों को नूर दिल को सरूर मिलता है कुरान पढ़ने से रब गफूर मिलता है हरफ हरफ है इसका निजात बशर का जामिन हरफ हरफ है इसका निजात बशर का जामिन निज़ाम जीस्त बंदगी का शूर मिलता है उसी के जहन में जलवा फगन हो फाहम कुरान उसी के जहन में जलवा फगन हो फाहम कुरान जिसकी हर सोच में इश्क हजूर मिलता है वरक वरक पे यहाँ बिखरा है एक लुत्फ जदीद सतर सतर में और बैन सतूर मिलता है जौक बेदार को कहते सुना के ए आसिफ वकफ वकफ पे यहाँ जलवाए तूर मिलता है अल्लाह तबारक वाली जल्ला जलालू वामा नवालू वातम बुरहान हूँ वाजम शान हो वजल जिक्र हो वाजा इसमों की हमद सना और हजूर सरवर कायनात मफखर मौजूदात जीनत बज़म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार जमां सैद सरबरा हामी बेकसा कायदुलमसलीम ख़ातमनबीन अहमद मुशतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दरबार बार में हदिया दरुदसलाम अर्ज करने के बाद नहायत ही मज़ व महतशम हजरात ख़वातीन रबाल के फजल और तोफीक से माह रमदान मुबारक के अशरा मफफरत में हम सबको इजतमाع जुमातुलमबारक में शिरकत की सदत हासिल हो रही है आज हमारी गुफ्तु का मौजू है मफहूम कुरान बदलने की वारदात किस्त नंबर चौदह मेरी दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालू हम सबको कुरान सुन्नत का फाहमता फरमाए और कुरान सुन्नत के इबलाग तबलीग और इस पर अमल करने की तोफीक अता फरमाए कुरान मजीद किताब हिदायत है और इसके हर लफज का हर हरफ में रोशनी है लेकिन कुरान मजीद बुरहान रशीद को उसलूब से हटाकर स्याको सुबाक से आयात को फेर कर तर्जमे में गलती करना या मफहूम के अंदर गलती करना ये हर दौर में वारदातियों का काम रहा है और दौरे सिहाबा में सिहाबा के मुकाबले भी कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए कि जिन्होंने सिहाबा किराम रिदवान के नज़रियात पर कुरान पढ़ के तनकीद शुरू कर दी और कुरान मजीद बुरहान रशीद को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पेश कर रहे थे इस सिलसिला में हमने काफ़ी साल पहले मौजूद का ये सिलसिला शुरू किया और इससे पहले इस मस्जिद में इस मिंबर पर तेरह अकसात बयान हो चुकी हैं और जिनमें किताबी शक्ल में भी एक जिल्द में मौजूद हैं और इस सिलसिला का ये फ़ायदा है कि दूर दूर तक बहुत से लोगों की उलझने दूर हुई हैं कि जो आयात पढ़ के आज के वारदाती अपना गलत मतलब निकालते थे हमने उनकी वारदात को रोकने के लिए आयात की वजाहत खुद आयात से की आयात के पस मंजर से की हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जिसके नतीजे में बहुत से लोगों का ईमान महफूज हुआ है और बहुत से लोगों को इससे फायदा पहुंचा है कुरान हिदायत है कुरान रोशनी है कुरान उजाला है कुरान खुशबू है कुरान तजल्ली है और कुरान किताब जिंदगी है कुरान किताब बंदगी है लेकिन युदिल्लु भी कसीरा वहदी भी कसीरा का अंदाज मौजूद है इस पर सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुज़म सल्लाम का फरमान वो पहले मैं पेश कर चुका हूँ जो इबन कसीर में है कि हमारे नबी सलाम ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत पर कुरान का खतरा है सहाबा कराम रिदवान ने पूछा खतरा कैसे है फरमाया यतल मुनाफिकून मेरा कुरान मुनाफिक भी पढ़ जाएंगे खतरा है अगर मुनाफिक पड़ गए तो मेरे गुलामों से झगड़ा करेंगे तो मुनाफिक का कुरान पढ़ जाना इसका खदशा था कि मोमिन पढ़ेगा तो उसे रोशनी मिलेगी मुनाफिक पढ़ेगा तो वो फिर पढ़ के मोमिनों से टकराएगा जिसका रिजल्ट आज हमारे माहौल में मौजूद है इसी बुनियाद पर अबू दाऊद शरीफ में शासिता की जो अहम किताब सुनने अबी दाऊद है उसमें हजरत मुआज बिन जबर रदी अल्लाह तहु का ये कौल मौजूद है तबलीग दीन के लिहाज से तफसर कुरान के लिहाज से हजरत मुआज बिन जबर रदी अल्लाह तहु का बहुत बड़ा नाम है और यही वो सिहाबी हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास यमन की तरफ भेजते वक़्त नसीहतें की वो हज़रत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तु अपने ज़माने में लोगों के सामने गुफ्तगु कर रहे थे और उन्होंने कहा इन नमिम वरा फितना यक सुरफी माल फरमाया तुम्हारे बाद एक फितना आने वाला है तुम्हारे बाद एक फितना आने वाला है तो सामने बैठे हुए या कुछ सहाबा थे कुछ ताबीन थे तुम्हारे बाद फितना आने वाला है वो फितना कैसा है फरमाने लगे यक शुरू फी हल माल एक फितना नहीं कई फितने हैं और उन फितनों में से एक फितना क्या है कि माल ज्यादा हो जाएगा जिस दौलत के ख्वाब हम देखते हैं हजरत माज बिन जबल कह रहे थे सामने बैठने वालों को कि तुम्हारे बाद ये फितना आ रहा है और फितने के अंदर माल ज्यादा हो जाएगा माल महदूद हो उसके मफासे थोड़े होते हैं जितना बढ़ता जाता है फिर आजमाइशें ज्यादा होती हैं उसके फितने ज्यादा होते हैं तो सहाबा ने भूखें काटी थी जिहाद किया था तो कहा अब फितना आने वाला है कि बाद में माल की कसरत हो जाएगी इसके साथ अजीब लफ्ज बोले व युफ्तहू फी हल कुरान बाद में फितना आएगा कि कुरान का इल्म ज्यादा हो जाएगा तहु फी हल कुरान कुरान फैला दिया जाएगा कुरान आम कर दिया जाएगा कुरान की नशर इशात बहुत ज्यादा हो जाएगी तुम्हारे बाद फितना आने वाला हजरत मुआज बिन जबर रदी अल्लाह तला हो उस फितने की वजाहत किससे करते हैं युफ तहूफी हल कुरान कि उसके अंदर कुरान को खोल दिया जाएगा मुहदसिन शारीन कहते हैं हुआ किनाया अनशुजुल कुरान कि कुरान का शाया होना कुरान का आम पड़ा जाना फतेह कुरान उससे किनाया है युफ्ता हो फीहल कुरान लुहवी माना उसमें कुरान खोल दिया जाएगा बंद कुरान खोल दिया जाएगा कुरान की तालीम आम हो जाएगी अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो तड़पते हैं कि तालीम कुरान आम हो और यहां पर हजरत मुआज बिन जबल का लहजा अजीब है कहते हैं कि बाद में फितना आ रहा है माल ज्यादा हो जाएगा और कुरान की तालीम आम हो जाएगी हत्ता यखुजहुल मुमिन वल मुनाफिक अब उसकी वजाहत करते हैं कि आम होने का मतलब क्या है फरमाया इतनी आम हो जाएगी कि मुनाफिक भी बढ़ जाएगा आम होने से मुराद मोमिनों में आम होना तो मतलूब है कि सारे मोमिनों को आता हो हत्ता यकफुजहुल मोमिन वल मुनाफिक यहां तक कि मोमिन को भी आएगा और मुनाफिक को भी आएगा मोमिन भी कुरान पढ़ेगा और मुनाफिक भी पढ़ेगा वर रजुलू वल मरा मर्द भी पढ़ेगा औरत भी पढ़ेगी व सगीर वल कबीर छोटा भी पढ़ेगा बड़ा भी पढ़ेगा वल अब्द वल हुर आजाद भी पढ़ेगा गुलाम भी पढ़ेगा अब ये फतेह कुरान की उन्होंने वजाहत की हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तु जो सिहाबी रसूल सल्ला वसम है और लोगों को मुस्तबिल के फितनों पर मुतले कर रहे हैं और उन फितनों पर मुतले करते हुए उन्होंने इसमें कहा कि माल ज्यादा हो जाएगा और माल के अलावा क्या होगा कि युफ्तुल कुरान कुरान खोल दिया जाएगा तालीम कुरान आम हो जाएगी अब हम अपनी तरफ से इसका मतलब बयान करते तो शायद इस पे शक भी होता उन्होंने खुद जो तो मतलब बयान कर दिया कि खोल दिया जाएगा मतलब क्या है कि मोमिन भी पड़ जाएगा मुनाफिक भी पड़ जाएगा तो तालीम पे राम हुई बड़ा भी पड़ जाएगा छोटा भी पड़ जाएगा मर्द भी पड़ जाएगा औरत भी पड़ जाएगी गुलाम भी पड़ जाएगा आजाद भी पड़ जाएगा कुरान का इल्म आम हो जाएगा ये एक फितने के तौर पर इसको बयान कर रहे थे जिस वक्त हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ने जो महज सिहाबी नहीं जिनकी शान यह है कि जब यमन में गए थे तो हमारे नबी सलाम ने पूछा था बेमा तकदी या मुआज मुआज फैसला कैसे करोगे तो अकदी बे किताब अल्लाह रब का कुरान पढ़ूंगा तो फैसला कर दूंगा इल्लम तजिद फी किताब अल्लाह अगर किताबुल्लाह में नहीं पाओगे तो फिर का अकदी बे सुन्नत रसूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पढ़ूंगा तो फैसला कर दूंगा और वम तजद की सुन्नत रसूल ही अगर सुन्नत रसूल में भी ना पाओ तो फिर क्या करोगे तो इन्होंने कहा आज ताहे तो मेरा जी राय मेरी होगी सोच मेरी होगी तो मैं कुरान सुन्नत की तालीमत के जेरे साया बैठ के इश्तहाद करूंगा और लोगों को मसला बता दूंगा ये नहीं कहा कि कुरान सुन्नत के बाद अब मैं तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता नहीं कहा आज ताहे दो मेरा जी मैं अपनी राय से इश्तहाद करूंगा तो नबी सलाम को इनकी सोच पर इनकी राय पर इतना एतमाद था कि सरकार ने यह नहीं फरमाया तुम कौन होते हो रब रसूल के बाद अपनी राय बताने वाले बल्कि मेरे नबी सलाम ने फरमा अलहमदुल्लाजी वफ़ा का रसूल रसूल बिमा यरतबी रसूलुल्लाह रसूल सल्लाम सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने मेरे गवर्नर को वो बात कहने की तोफीक दी है जिसे सुन के रब का नबी खुश हो गया है तो इनकी राय पर तो मोर सरकार ने लगा दी कि जब मसला न होगा मैं अपनी राय से बयान करूंगा और यमन वालों पर लाजिम हुआ कि जो राय से ये बयान करेंगे तुमने उसे दीन समझना है और उस पर अमल करना है वो हजरत मुहाज बिन जबल जो नबी सलाम की इतने तरबियत याफ्ता है वो कहते हैं फितना आएगा कि कुरान खोल दिया जाएगा और कुरान खोल देने का मतलब क्या है मतलब यह है कि मोमिन भी पढ़ जाएगा और मुनाफिक भी पढ़ जाएगा अब ये तो तकाजा है शरीयत मुतहरा का कि कुरान हर बंदे को आए और कुरान की तालीम हर किसी के पास हो चूंकि दूसरे मकाम पर इसे मोमिन के दिल की बहार कहा गया है और इसे रौनक दिल की कहा गया और फरमाया नबी सलाम ने ला तजलू कुम मकाबिर अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ मतलब क्या है फरमा घर में कुरान पढ़ा करो कुरान पढ़ोगे तो फिर घर कबर नहीं है और अगर कुरान नहीं पढ़ोगे तो फिर वो जीते जागते की कबर बन जाएगी तो कुरान पढ़े पढ़ने से इंसान को रौनक मिलती है और दूसरी तरफ यहां तक वाजे कर दिया इन लजी लई सफ़ी जो की शई मिनल कुरान कल बैतल खरब कि जिसके दिल में कुछ भी कुरान नहीं वो तो खंडर बस्ती है वीरान दिल है उजड़ा हुआ है उसे तो कुछ मुयसर ही नहीं है इस कुरान से इंसान की शान है कुरान से उसे इल्म मिलता है और इसमें इतना इल्म है कि मेरे महबूब सलाम की इस किताब का तस्करा रबाल ने जो हजरत मूसम के सामने किया इसका जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमा मासलो किताब अहमद बैन अल कुतुब फी लबन अखरज तजुबदतन ए मेरे कलीम सुनो जो अपने हबीब को मैं किताब दूंगा वह ऐसी किताब है जो बर्तन की तरह है बर्तन कैसा जो दूध से भरा हुआ हो कैसा दूध फरमाया जिससे जितनी बार भी मक्खन निकालोगे फिर भी लस्सी नहीं बनेगा फिर भी दूध ही रहेगा ये इसकी शान है सारे मक्खन खाते गए सिहाबा ने शहरों के खाया ताबीन ने खाया सब खाते गए हमारे हिस्से का अब भी बाकी है यानी जो भी पड़ेगा उसको मक्खन मिलेगा ये खैर ये किताब जिंदगी ये किताब इनकलाब मतलूब है कि ये सबको आए और कुछ ना कुछ तो जरूर आए वरना उस इंसान का दिल खंडर है जिसके दिल के अंदर कुरान मौजूद नहीं है तो फिर हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तला इसको फितने के तौर पे क्यों पेश कर रहे हैं हालांकि वो खुद गए कुरान है खुद सारी जिंदगी कुरान पढ़ाते रहे खुद उनका सोच था कि हर को आना चाहिए खुद उनकी तड़प थी कि सब तक इसे पहुंचाना चाहिए लेकिन इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बाद फितना आ रहा है उसमें माल भी ज्यादा हो जाएगा और इल्म कुरान भी ज्यादा हो जाएगा इसका एक खास पस मंजर था जिसके पेश नजर हमने मफहूम कुरान बदलने की वारदात का ये सिलसिला शुरू किया कि कुरान मजीद बुरहान रशीद एक अबरे क्रम है इससे दिल में नूर पैदा होता है घी का इस्तेमाल बड़ा मुफीद है लेकिन जिसका निज़ाम इन्हज़ाम खराब हो उसको घी की नाली रास नहीं आती कसूर घी का नहीं कसूर तो उसके मजाज का है तो इस बुनियाद पर जब फैलाया जाएगा कि जिसमें कुवत बर्दाश्त नहीं है जिसका अंदर मरा हुआ है जिसके अंदर सलाहियत ऐसी नहीं कि वो इसको समझ के इसका हक लोगों के सामने बयान करे उसके हाथ में बतौर तलवार है और उसे ये पता नहीं कि मारनी किसको है इस बुनियाद पर आगे फितना होगा आगे फसाद होगा कि कौन सी आयत किसके बारे में पढ़नी है कौन सा हुक्म किसके बारे में बयान करना है तो चूंकि ये हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तला के सामने सरकार की भी तालीमत मौजूद थी तो उन्होंने इस सिलसिले की तकरीर कर दी जो सिहाबा ने ताबी ने रवायत की और बात हम तक पहुंची और दाऊद शरीफ में मौजूद है उसमें एक तो इशारा शुरू से उन्होंने दे दिया कि ऐसी सूरत हाल है कि मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं कि फितना आएगा कि मुनाफिक पड़ जाएंगे कुरान कुछ मुनाफिक भी पड़ जाएंगे तो फिर चुप नहीं करेंगे दर्ज देंगे वो भी इसकी तबलीग करेंगे है मुनाफिक तो फिर मुनाफकत पर जब बारिश कुरान की हो तो वहां खुशबू नहीं आ सकती वहां अमन नहीं होता वहां सुरूर नहीं होता वहां फतूर होता है जो फतूर होगा तो फितना होगा इस बुनियाद पर एक तो फितने की तरफ इशारा कर दिया दूसरे नंबर पर कहने लगे फयूश को कायल अकूला मालिन्ना से लायतूनी कुछ लोग कुरान पढ़ के अपनी खाश को वारदात करके कुरान से साबित करेंगे तो फिर लोगों का इंतजार करेंगे कि लोग मेरा कलमा पढ़े जो मैं कह रहा हूं लोग उसको माने जो मेरी सोच है लोग उसके पैरोकार बन जाएं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के अजीम सिहाबी हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तु कहते हैं मालिन्ना से लायत तबीनी वक़द करातुल कुरान ऐसे भी मुबल्ले आएंगे कि वो ताजुब करेंगे लोग मेरे पीछे क्यों नहीं चल रहे हालांकि मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं हालांकि मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं मैंने तो कुरान पढ़ा है लोग मेरे पीछे क्यों नहीं चलते हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तु कहते हैं जिस वक्त वो इस हवस में कि लोग मुझे किबला बनाए लोग मुझे कायद बनाए लोग मेरे पीछे चले मैं कुरान पढ़ता हूं लोग पीछे चल ही नहीं रहे तो हजरत मुआज कहते हैं उसकी ये सोच होगी बेमुत्ता बेमुत्तवी हत्ता अब तदयालहम गई रहू कि जो कुरान है ये पढ़ने से तो पीछे आते रही तो फिर मैं अपने तौर पर कुछ घड़ के इनके सामने पेश कर दूं अगरचे आयात बदल नहीं सकता अगरचे जाहिरी तर्जमा बदलने में भी जल्दी चोरी पकड़ी जाएगी तो फिर ये वारदातिये जिनकी निशानदेही हजरत मुआज बिन जबल ने की कि लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए फिर कुरान मजीद के मफहूम अपनी तरफ से घड़ते हैं लोगों के सामने पेश करते हैं और अपने घड़े हुए में लोगों को फेरने के लिए ऐसी चीजें मिक्स करते हैं कि जिसकी वजह से लोगों में असर हो उनकी उस बात का और लोग उनकी तरफ कायल हो जाएं, उनके फिरके के लोग बढ़ जाएं, उनकी मस्जिदों के नमाजी ज्यादा हो उनके जलसे में लोग ज्यादा आ जाएं, वो अपनी तरफ से वो घड़ा हुआ मजमून और घड़ा हुआ फलसफा वो लोगों के सामने पेश करेंगे तो हजरत माज बिन जबल ने कहा फैयाकुम वमबतदा है मेरी तकरीर सुनने वाले सिहाबा और ताबीन ये बात आगे भी पहुंचाना कि जब इस किस्म के वारदाती पैदा होंगे मैं उनके लिहाज से पेश कर रहा हूं कि कमीनी सोचों तक जब ये कुरान का इल्म जाएगा तो वो उसके बाद चूंकि ग्रामर आती होगी उनको महारत हासिल होगी वो सियाको सुबाक बदल के लोगों के सामने अपनी हफ्से बातिल को साबित करने के लिए कुरान के मजमून को बदलेंगे मफहूम को बदलेंगे तो इस वास्ते हजरत माज में जबल कहने लगे तुम्हारे बाद फितना है उस फितने के अंदर जहां माल का फितना है वहां कुरान का भी फितना है और कुरान के फितने में का मर्द भी पड़ जाएंगे औरतें भी पड़ जाएंगी छोटे भी बड़े भी यानी जिसमें हाजमा नहीं वो भी जिसके अंदर हाजमा है वो भी जो बर्दाश्त कर सकता है जो वो भी जो नहीं कर सकता वो भी जिसको पता है कि तलवार किसे मारनी है वो भी और जिसे नहीं पता कि कहां चलानी है वो भी और जब ये पड़ जाएंगे तो गली गली पे फतवे बात बात पे झगड़े और इस तरह आगे सिलसिला शुरू हो जाएगा हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तला ने कहा मेरे जलसे में आने वालों मेरी बात सुनने वालों मैं तुम्हें बता रहा हूं ऐसे लोगों की तरफ मत जाना ऐसे लोगों को दरसे कुरान मत सुनना ऐसे लोगों की तबलीग दीन में मत बैठना उनकी तफसीर और उनके तर्जमे की तरफ मुतवजह ना होना इस वास्ते कि इस कुरान के जरिए से कुछ लोग अपनी बातनी ख्वाहिश को आवाम पर मुसलत करना चाहेंगे और हम सिहाबा ने जो सरकार से सीखा है हमारे सामने उनका पता बता दिया गया है हम अगली नस्लों को बताना चाहते हैं कि जहां भी कुरान खोल के कोई बैठा हो वहां इतमान से ना बैठ जाओ कि अपना दिल खोलो कि जो बरसाना है जैसा भी होना है जो करना है कर लो नहीं पहले चेक करो कि कुरान जिस जुबा से निकल रहा है इसकी छत किस अकीदे की पड़ी हुई है और बारिश कहां से आ रही है और ताल्लुक किसके साथ है इस वास्ते हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तहों ने और दीगर शहाबा कराम रहमान ने कुरान के मजमून के लिहाज से और खुद जुबान रिसालत ने जो फरमाया था कि मुझे खतरा है इन चीजों को पेश नजर रखते हुए हम अपने माहौल की आज तलाशी लेते हैं छानबीन करते हैं हमें बारहा ऐसे वारदातिये मिलते हैं मर्द भी हैं कुछ औरतें भी हैं टीवी पर रेडियो पर और मुख्तलिफ महाजों पर ऐसे ऐसे यानी उनके पास हथकंडे हैं जिसकी वजह से वो खतरा जो हजरत मुआज बिन जबल ने महसूस किया वाज तौर पर वो हालात हमें नजर आते हैं इस वास्ते हमने मफहूम कुरान बदलने की वारदात का ये अहम सिलसिला शुरू किया ताकि जिन आयात के मफहूम को बिगाड़ा जा रहा है उन आयात के मफहूम को वाजे किया जाए एक भी बिगड़े हुए इंसान का यकीन अगर हमारे समझाने से बच जाएगा तुम बताओगे वो महफूज हो जाएगा तो अल्लाह के फजल से दुनिया व माफी हा के सदके से बड़ा सवाब आपको हासिल हो जाएगा इस सिलसिला में आज के इस मौजू के अंदर चंद बातें रखना चाहता हूं ये दावत हक जमातुल मुस्लिम का एक पंफलेट है और इस तरह के इनके कई पंफलेट हैं जिसमें इन्होंने कुरान की आयात पढ़ के वारदात की हुई है और हमारे सादा सादा लोग इसे दीन समझ के दावत समझ के कुरान समझ के सुनते हैं फिर तकसीम करते हैं रुकन बनते हैं कि बड़े अल्लाह वाले हैं कुरान की बात करते हैं और जू मुनसलिक होकर अपनी दीन दुनिया को खराब कर लेते हैं इस बुनियाद पर इनका जो सबसे अहम बुनियादी नारा है उस पर सिर्फ हम बास करते हैं बाकी मामलात जो है वो तो बड़े खतरनाक हैं अंदर के लेकिन जो हर एक को बताते हैं हर जगह इश्तेहार छापते हैं हर किताब इनकी जो है उसके सरे वर्क जो है उसके लिखा हुआ है वो नारा इनका क्या है हमारा हाकिम सिर्फ एक यानी अल्लाह ताला अल्लाह के सिवा कोई नहीं ये जमातुल मुस्लिमीन जो कराची से चली हुई है उनका नारा है पहला हमारा हाकिम सिर्फ एक यानी अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह के सिवा कोई नहीं हमारा इमाम सिर्फ एक यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरका वाराना इमाम नहीं हमारा दीन सिर्फ एक यानी अल्लाह का पसंद करदा दीन इस्लाम फिरका वाराना मजहब नहीं हमारा नाम सिर्फ एक यानी अल्लाह का रखा हुआ नाम मुस्लिमीन फिरका वाराना नाम नहीं इस तरह करके इन्होंने अपनी दावत का जाल फैलाया हुआ है और इसकी किताबचे लिखे हुए हैं अब यहां पर सबसे पहला नारा हमारा हाकिम सिर्फ अल्लाह हमारा हाकिम सिर्फ एक यानी अल्लाह तबारक वाली अल्लाह के सिवा कुछ नहीं अब ये नारा जो है इसको सामने रखो और उधर कुरान मजीद की आयात की तिलावत करो तो ये नारा ही कुरान से मुतसादम नारा है हाकिम होना और है अल्लाह होना और है हाकिम का मतलब और है अल्लाह का मतलब और है मेरे रब के सिवा अल्लाह कोई नहीं लेकिन मेरे रब ने हाकिम कई बनाए हैं अल्लाह उसके सिवा कोई नहीं लेकिन हाकिम उसके सिवा है और कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह का ये फरमान आयात कुरान में उसका तस्करा मौजूद है चूंकि हमने उस वारदात का जवाब सिर्फ कुरान ही से देना है और कुरान मजीद वरना अहादीस हजारों हैं और जवाब का हक भी बनता है कि जवाब उससे भी दे चूंकि वो बहुत मजबूत दलील है लेकिन जब पहली दलील हमारी जो तरतीब बताई है नबी सलाम ने वो दलील कुरान है तो कुरान मजीद बुरहान रशीद से इस मसले को बयान करते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हाकिम कौन कौन है रब जलाल का पांचवें पारे में ये इर्शाद है खाल के कायनात जल्ला जलालू इर्शाद फरमाता है मेरे नबी सलाम की शान को बयान करते हुए ये सूरह निशा है उसके अंदर आयत नंबर पैंसठ है रबुल जलाल फरमाता फला व रबी का ला यू मिनूना हत्ता यू का महबूब मुझे तुम्हारे रब की कसम कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक तुम्हें अपना हाकिम ना मान ले हत्ता यु हक के मुंह का यहां तक के तुम्हारे हुक्म को तस्लीम ना करे तुम्हें अपना हाकिम ना माने तुम्हें अपना हाकिम ना माने तो ये आगाज से ही सिखाया गया कि रब्बुल जलाल ने हमारे नबी सलाम को जो शान दी है उनमें से एक शान ये है कि हाकिम भी बनाया है खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा रब्बुल जलाल की तरफ से हुक्म की सलाहियत जो दी गई उसको कुरान मजीद में देखो तो सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर सतासी है खाल के कायनात जल्ला जलालहू ने इस आयत के अंदर भी इस चीज को वाज किया है और आराफ के इस मकाम पर जलाल का फरमान इस चीज को इस अमर को वाज कर रहा है कि उसने जो हुक्म की सलाहियत दी अपने बंदों को उसका कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जिक्र भी किया है आयत नंबर सतासी के अंदर खाल के कायरात इर्शाद फरमाता फसबिर हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना सबर करो यहां तक कि हुक्म करे रब हमारे दरमियान वह हुआ खैरुल हाकिमीन और रब हाकिमों में सबसे बेहतर है तो पता चला हाकिम और भी हैं लेकिन उनमें से बेहतर सबसे अल्लाह है खैरुल हाकिमीन ये कुरान की आयत है खैरुल हाकिमीन ये कुरान की आयत है जैसे खैर राजिकीन है ऐसे खैरुल हाकिमीन भी है तो रब जलाल ने फरमाया कि अल्लाह जो है वो हाकिमीन में से सबसे बड़ी शान वाला है तो खाल के कायनात जल्ला जलाल की तरफ से जिन्हें हुक्म की सलाहियत दी गई उनको हाकिम माना गया हाकिम का लफज उन पर बोला गया और उनमें से रब को जो है वो खैर कहा गया और दूसरे मकाम पर कहा हुआ अहकमुल हाकिमीन वो हाकिमीन में से सबसे अहकम है जिस तरह के कुरान मजीद की सूरह तीन में है अलई सल्लाहकमिल हाकिमीन क्या रब जलाल अहकमुल हाकिमीन नहीं है यानी इस्तीफाम इनकारी है वो अहकमुल हाकिमीन है तो कुरान मान रहा है हाकिम और भी है मगर रब्बुल जलाल सबसे बड़ा हाकिम है अब जो ये नारा लगाए कि हमारा हाकिम सिर्फ एक तो कुरान की कितनी आयतों का मुनकर बनता है सिर्फ एक हो तो फिर जमा का लफज बोले नहीं जा सकता फिर और किसी के लिए उसकी गुंजाइश होती नहीं है वो बात है लफ्ज अल्लाह के लिहाज से वो है अल्लाह के लिहाज से अब जब अल्लाह की बात होती है तो क्या कहीं कोई ऐसा है कि इलाहों में से सच्चे इलाहों में से ये सबसे अच्छा है उसके सिवा है ही कोई नहीं तो एक ही है अल्लाह के लिहाज से ये बात है उसके सिवा कोई और अल्लाह है ही नहीं तो ये कहो कि हमारा अल्लाह सिर्फ एक है उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं हमारा अल्लाह सिर्फ एक है उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं जहां तक हाकिम की बात है हाकिम रब्बे जलाल है और जिसे चाहे उसे भी हाकिम बना देता है असल में ये जो कंपनी है इनकी जड़ें एक पहले मजमून में मैंने बयान किया था कि जब हजरत अली रजी अल्लाह तहो पर फतवा लगा दिया खारजियों ने तकरीर कर रहे थे कूफे में तो किसी ने कहा अली तुम अमीरुल मोमिन बने हुए हो हम तुझे मोमिन नहीं मानते अमीरुल मोमिन कैसे मानेंगे बात तो आपने फरमाया क्यों गलती क्या हुई अब इसे तो उसने आयत पढ़ी इनिल हुक्म इल्ला हुक्म सिर्फ अल्लाह का है और तुम बंदों का भी मानते हो तो तुम मुनकर कुरान हो माजल्ला तो जो मुनकर कुरान हो मोमिन कैसे होता तो जो मोमिन ना अमीरुल मोमिन कैसे होता अब ये जिनके घर कुरान उतरा उनके सामने उनको कुरान सुना के हुक्म वाली आयत इनिल हुक्म इल्ला हुक्म सिर्फ अल्लाह का है तो आपने का कलिमा तो हक उरीद हल बातिल आयत सच्ची या तुम झूठे हो आयत बिल्कुल सच्ची है तुम झूठे हो हुक्म अल्लाह का है वो किसी को ना दे तो किसी के पास नहीं आता लेकिन वो जिसे चाहे हाकिम बना देता है जिस तरह इन इज्जत अल्लाह जमीया इज्जत सारी अल्लाह की है लेकिन क्या कोई ऐसा भी तो मैंने देखा जो कहे कि मेरी नहीं इज्जत मेरे बाप की नहीं मेरे उस्ताद की नहीं मेरे भाई की नहीं क्योंकि इज्जत तो अल्लाह की है सब कहते हैं अल्लाह की है लेकिन जिसे चाहे दे देता है ऐसे हुक्म अल्लाह का है तो इसका मतलब नहीं कि बंदे के पास आते ही नहीं नहीं देता वो है और बंदे को मिल भी जाता है जैसे कुरान में दूसरी जगह इज्जत का बयान कर दिया लिल्लाह तो वाले रसूली वलिल मोमिन वलाकिन अल मुनाफिकीन अल्लामून इज्जत अल्लाह की भी है अल्लाह के रसूल सलाम की भी है मोमिनों को भी है पता नहीं तो मुनाफिकों को इस बात का पता नहीं है तो हुक्म के लिहाज से हजरत अली रजी अल्लाह तु ने कहा आयत सच्ची है लेकिन तुम झूठे हो मतलब गलत ले रहे हो अब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इनसे ये जो खारजी टोला था उस वक्त जिन्होंने हुक्म का मसला उठा लिया कि हाकिम सिर्फ अल्लाह है हाकिम सिर्फ अल्लाह है उसके सिवा कोई हाकिम नहीं है हजरत अली ने कहा कि अब तुम्हारी किस्मत के फैसले मेरी तलवार करेगी तुम कुरान बिगाड़ना चाहते हो हम कुरान पे पहरा देंगे हमारे घर में उतरा है हम इसका मजमून नहीं बदलने देंगे और तुम्हें वारदात नहीं करने देंगे हरौरा बस्तिया इराक की वहां ये सारे खारजी इकट्ठे थे हजरत अली रजी अल्लाह तला ने लश्कर लिया चलो ये जो कुरान को बदल रहे हैं हाकिम सिर्फ अल्लाह है इनकी जल की खबर लेते हैं काफिला पहुंचा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा मीरुल मोमिनीन जोहर का टाइम हो गया है तो जरा जोर ठंडी करो मैं जरा उनको ठंडा हूं कि ये क्यों झगड़ते क्यों हैं गलती में ही ना मारे जाए मैं पूछता हूं जाके दलील से बात करता हूं और दलील समझाता हूं कि आखिर कलमा गो है और अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ आयतें पढ़ रहे हैं तो इनको तकलीफ क्या है नस्ब राया में भी है तबरानी की मोज में कबीर में है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तलाकुमा ने जाके पूछा ए नारा लगाने वालों क्या हुआ तुम्हें उस शख्स के खिलाफ आ गए हो कि जिनको रसूल अल्लाह सल्लाम ने कई नस्बतों से माला माल किया है और जिनके घर कुरान उतरा है तो सारे कहने लगे कोई जाति झगड़ा है ही नहीं बस बात तो कुरान की है ये मुनकर कुरान है तो हम इनको नहीं मानते तो आपने कहा कैसे मुनकर कुरान है तो कहने लगे इनिल हुक्म हुक्म अल्लाह का है इन्होंने जब हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तला से सुलह करनी थी तो इन्होंने कहा कि हजरत अमर बिन आस और हजरत मूसाशरी रजी अल्लाह तुमा जो फैसला करे मुझे मंजूर है तो इन्होंने रब वाली शान बंदों में मान ली है हुक्म तो रब का है और यह कहते हुक्म बंदों का भी है चूंकि दो सहाबा को इन्होंने हकम माना फैसल माना उनके हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया लिहाजा ये कुरान छोड़ बैठे कुरान तो कहता हुक्म सिर्फ अल्लाह का है तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जवाब दिया क्या जवाब था दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया पढ़ी तो आयत ही जा रही थी उनके सामने मगर पढ़ने वालों की जमीन शोर थी सेम जदा थी इस वास्ते कुरान के नूर का फायदा नहीं हो रहा था आपने कुरान पढ़ के उनका इलाज किया अब वक्त नहीं कि वो सारी आयतें निकालूं लेकिन चूंकि हमारा शोभा उसी ग्रोह से है कि जो आयात के जरिए ऑपरेशन कर देते हैं तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तला कहने लगे देखो तुम कुरान सारा पढ़ो कि ताकि तुम्हें तफसीर आए इनिल हुक्म इल्ला की कि हुक्म अल्लाह का है सारे का क्या मतलब है फरमा देखो अल्लाह फरमाता इन खिफ तुम शिका का बहन हिमा फबासू हा का मम नाहले ही वहा का मम नाहले हा अगर मियां बीवी का झगड़ा हो जाए तो फिर क्या करो फिर एक हकम मर्द का ले लो एक हकम औरत की तरफ से ले लो दोनों फैसल बैठे तो मसला हल हो जाएगा तो अब इबन अब्बास ने कहा ओ निकम्मे लोगों एक घर की बात बड़ी है या पूरी उम्मत की बात बड़ी है एक घर के लिए तो कुरान कहता है दो हाकिम मान लो तो इन्होंने हजरत मेरे माविया रजी अल्लाह तला से सुलह के लिए पूरी उम्मत का मसला था अगर दो मान लिए तो कोई जुर्म नहीं किया कुरान के हुक्म पे अमल किया है अब देखो नारा लगाना तो आसान है अनिल हुक्म अल्लाह हुक्म सिर्फ अल्लाह का हाकिम सिर्फ अल्लाह है लेकिन आगे बात कहां जा पहुंचती है हाकिम सिर्फ अल्लाह है आज की ये जाहिल जमात जो अबजा में खेस जमातुल मुस्लिमीन कहलाती है और बाकी सब पे फतवे लगा दिए कि हम सिर्फ मुसलमान हैं बाकी तो मुसलमान नहीं क्योंकि इनके अपने अपने जुदा नाम हैं ये इस्लाम का लेबल लगाकर हाकिम सिर्फ अल्लाह है ये नारा था खारजियों का किसके मुकाबले में उलमोमिन हजरत अली रजी अल्लाह तला के मुकाबले में शहाबा के मुकाबले में और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के मुकाबले में उन्होंने आयतें पढ़ के सुनाई फिर कहा कि जब हालत एहराम में कोई बंदा शिकार कर बैठे तो कुरान कहता है वो मिसल दे मिसाल के तौर पर खरगोश कत्ल किया तो उसकी मिसल दे मिसल दे तो फिर छुटकारा होगा क्योंकि उसने जुर्म किया है हालतेश एहराम में शिकार नहीं करना था मिसल दे मिसल की दो किस्में हैं एक है मिसल कीमत के लिहाज से दूसरी है मिसल जिसम के लिहाज से सूरत के लिहाज से अब कीमत का फैसला कौन करेगा कि शिकार किया तो कितने पैसे दे तो वो एहराम का जो उसने जुर्म किया है वो कफारा पूरा होगा तो रब्बे जलाल ने फरमाया वाहि तो बंद है मेरे महबूब पर अब आगे हज तो क्यामत तक लोगों ने करना है और गलतियां होनी है किसी ने किसी चीज का शिकार करना है किसी ने किसी का करना है तो फरमा हम कानून बताते हैं कुरान मजीद कहता है यह कुम भी जवा मिन कुम अल्लाह ने फरमाया कि ए मुसलमानों हर सदी के मुसलमानों हर जमाने के मुसलमानों तुम में से दो आदिल आदमी जो फैसला कर दें वो ही मेरी शरीयत है यह कोमो भी जदा अदले मिन को तुम में से दो हाकिम बन जाए दो बंदे हाकिम बन जाए वो इसका हुक्म दे फैसला करे तो इबन अब्बास ने कहा इनिल हुक्म इल्ला लिल्ला का विरद करने वालों कुरान तो सारा पढ़ो आयत तुम्हें आती है मतलब तुम्हें नहीं आता ये तुमने गलत समझा है कि अगर बंदे का हुक्म माने तो शिरक हो जाता है कि सिर्फ अल्लाह हाकिम है अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं है उन्होंने कहा रुबे दीनार का चार आने का खरगोश मर जाए तो दो हाकिम कुरान बना दे तो कहा अमीर उमोमिन ने क्या गलती की है पूरी उम्मत के खून का मसला था अगर उन्होंने सुलह के लिए हाकिम मान ली है तो कोई गलती नहीं की इस बुनियाद पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तला की तकरीर सुन के हजारों खारजी तोबा करके कलमा पढ़ के फिर इस्लाम में दाखिल हो गए यानी कलमा ये पहले भी पढ़ते थे लेकिन खारजियत का टोला राफजियत का टोला इनकी जो हैसियत है फिर वो अहल सुन्नत बन गए और फिर वापस लौट के आ गए और फिर इस मजहब पे आ गए कि हाकिम रब भी है और रब जिसे चाहे उसे हाकिम बना देता है अब देखो ये टोला आज ऐलान कर रहा है हमारा हाकिम सिर्फ एक और वो अल्लाह और उसके सिवा कोई हाकिम नहीं है जबकि पुराने मजीद बुरहान रशीद हमें बता रहा है एक नहीं दर्जन से जायद आयात इस बात की वजाहत करती हैं कि रब्बुल जलाल खुद भी हुक्म करता है और हुक्म के लिए उसने नबियों को भेजा है और हुक्म आगे वो उम्मतियों को भी चलता है क्योंकि रब्बुल जलाल क्या फरमाता वह अति उल्लाह व अति रसूल व उल अमर मिन कुम इतात करो रब की और इतात करो रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तीसरे नंबर पर उलिल अमर मिन कुम जो तुम में से उलिल अमर है उसकी भी इतात करो उसकी भी इतात करो अब जिसकी इतात करी जा की जाए उसका हुक्म माना जाता है उसको हाकिम माना जाता है अब हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तहो जो यमन में भेजे थे मेरे नबी सलाम ने उन्होंने क्या करना था वहां हुक्म चलाना था फैसले बताने थे यमन वालों ने मानने थे और ऐसे जिन जिन को भेजा है सब का हुक्म माना गया है और अगर रब के सिवा किसी को हाके मानना ही ना जायज हो शिरक हो फिर तो पहले दिन से माजल्ला इस्लाम खत्म फिर तो कुरान के अंदर शिरक आ गया इस वास्ते आज का ये जाहिल तबका रोज नई जहालत फैलाने के लिए तैयार है और जो देखा था निगाह गैब से मेरे नबी सलाम ने कि कुरान पढ़ के टकराएंगे मेरी उम्मत से और कुरान के जरिए फिर जहालत फैलाएंगे और कुरान के जरिए हतमाज बिन जबल ने कहा फितना आ रहा है आगे कुरान से कि लोग इसके अंदर वारदात करेंगे उसकी सूरत हाल ये देखो कि आज ये चलता फिरता तबका और इस तरह की और कई कितनी जमातें लोग इस तरह के मकासद लिए फिरते हैं और कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात के अंदर वाज तौर पर मफहूम में वारदात करते नजर आते हैं तर्जमे की गलतियां उन्हें चूंकि वो एक ऐसी चोरी है जो जल्दी पकड़ी जाती है अगरचे वो भी होती है लेकिन वारदात जो मफहूम के लिहाज से है ये चोरी मुश्किल हो जाती है ये बिल्कुल मिक्स करके कुरान और अपनी सोच उन दोनों को डिलीवर कर देते हैं और सादा लो इंसान उसे सब कुछ समझ बैठते हैं इस बुनियाद पर ये वारदात के जो मौजूद हैं जिनमें वारदात का किला कमा किया गया है उन्हें जरूर पेश नजर रखने की जरूरत है दूसरा नारा है हमारा इमाम सिर्फ एक यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इमाम सिर्फ एक ये भी कुरानी सोच नहीं कुरान मजीद में तो कई इमामों का जिक्र है कुरान मजीद में आइमा का जिक्र है कुरान मजीद बुरहान रशीद में चलो पहले जो इमाम हो गुजरे हैं पहली उम्मतों के वो तो अपनी जगह इस उम्मत के लिहाज से इस उम्मत के लिहाज से कुरान मजीद बुरहान रशीद ने कई आइम्मा का तस्करा किया है अब ये सूर्य कसस है रब जलाल फरमाता है व नूरी दो अर्थ हम ये इरादा करते हैं कि जो लोग जमीन में कमजोर हैं हम उन पर एहसान करें जईफ लोगों पर कमजोरों पर हम एहसान करें एहसान करके क्या कर दें उनको अल्लाह फरमाता है वह नच आला अम्मा हम उनको इमाम बना दें हम उनको अम्मा का लफज है हम उनको इमाम बना दें तो क्या ये बात जो की जा रही है हमारा इमाम सिर्फ एक और उनके सिवा कोई इमाम नहीं तो फिर रब्बे जुल जलाल तो इमामत नबूवत से जुदा बयान कर रहा है नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया है और इमामत का दरवाजा खुला रखा हुआ है और कुरान उतरा है और वादा मुस्तकबिल का है कि हम क्या कर देंगे नच आला हूं अइम्मा हम कजोरों कमजोरों को जईफों को इमाम बना देंगे जबकि सरकार के बाद नबूवत का तो सवारी पैदा नहीं होता सरकार के बाद किसी नबी के पैदा होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है तो किसी को नबूवत मिलने का कोई चांस ही नहीं है और जब किरब जुलजलाल सरकार पे ही कुरान नाजिल करके फरमा रहा है हम चाहते हैं कि हम एहसान कर दें जयीफों पर और क्या करें उनको वनच आलहम आइम्मा वनच आलहमुल वारिसीन हम उनको इमाम भी बना दें हम उनको वारिस भी बना दें अगले जुमे का वो मौजू आ रहा है अल्लाह नबी वारिस वना चालहमुल उस दिन वजाहत होगी अल्लाह ही वारिस और अल्लाह नबी वारिस दोनों में से पुरानी फैसला कौन सा है वना चालहमुल वारिसीन हम उनको वारिसीन बना दें वारिस की जमा है जिनके गुलाम वारिस हों वो खुद कितने बड़े वारिस होंगे नच आला हम अइम्मा हम उनको क्या बना दें अइम्मा बना दे अइम्मा इमाम की जगह जमा है हम इनको इमाम बना दें लिहाजा जो इमामत मेरे नबी इस्लाम की है वो तो मुनफरिद दर्जे की है वो तो किसी नबी को भी नहीं मिल सकती वो नबियों के भी इमाम हैं मगर बात है इस जुमले की कि जिसमें यह है कि हमारा इमाम सिर्फ एक यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिवा कोई नहीं है इमाम का लफ्ज बोला या तो लफ्ज नबी बोला जा लफ्ज रसूल बोला जा उसकी माना और है उसकी हैसियत और है उसकी डिमांड और तकाजा और है लफ्ज इमाम बोला असल में दर्द छिड़ा हुआ था इमाम शाफी से दर्द था इमाम आजम अबू हनीफा से दर्द था इमाम मालिक और दर्द था इमाम अहमद बिन हम्बल रहमल्ला ताला से इन सब पर चूंकि लोगों ने फतवे लगाए हुए हैं तो अब उनकी नफी करने के लिए कहते हैं इमाम सिर्फ एक तो उन्हें पता नहीं मेरे महबूब तो महबूब ऐसे हैं जिनकी गुलामी में हजारों इमाम नजर आते हैं इमाम इमाम का लफज सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लाम ने जो इमामत दी उसके अंदर हजरत सिद्दीक अकबर भी इमाम है हजरत फारूक आजम भी इमाम है हजरत उस्मान गनी भी इमाम है हजरत मौला अली रजी अल्लाह तुम ये सारे इमाम हैं इमामत पर इन्हसार इस तरह की सूरत हाल कि हमारा इमाम सिर्फ एक है इसमें अब आयात कुरान का जवाब कौन देगा रब जलाल ने तो कहा उम्मत में आइम्मा होंगे इमाम कई इमाम और फिर और तो और रहा एक दुआ का जिक्र है कुरान मजीद में और वो तुम सब मांगते भी हो और सबका इमाम ईमान भी है तो उस दुआ का फिर मतलब क्या बनता है रबेसुल जलाल ने फरमाया अल्लाह के बंदे कौन होते हैं उनकी शान बयान की रातों को नमाजें पढ़ते हैं सजदे करते हैं रकू करते हैं ये करते हैं वो करते हैं शान बयान की और फिर फरमा वो एक दुआ भी मांगते हैं वल्लजीन यकूलूना वो जो कहते हैं रब्बना हबलना मिन अजवाजिना वजुर्रियातिना कुर्रत आयुन अय अल्लाह हमें हमारी बीवियों से हमारी बीवियों से औलादों से हमें आंखों की ठंडक अता कर दे आंखों की ठंडक अता कर दे और क्या कर दे वज अल्ला लिल मुत्तकीन इमामा हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे अब देखो इतनी भी जहालत हो सकती है कि जो सीट रब्बे जुलजलाल कहता मांगो मुझसे मांगो कहो है अल्लाह मुझे इमाम बना दे और इमाम भी मुत्तकी लोगों का बना दे वज अल्ला लिल मुत्तकी इमामा हमें इमाम बना दे अल्लाह मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे अब रब तो फरमाता है कि इमामत का दरवाजा बंद नहीं है इमामत का दरवाजा खुला है इमाम बनते रहेंगे बनते चले जाएंगे बंद है नबूवत का दरवाजा ये कितनी नाम नहाद जमातुल मुसलिमीन कितनी जहालत के दलदल में फंसी हुई है कहते हैं इमाम सिर्फ एक है कुरान से पूछ ही नहीं रहे कि कुरान इमामत का तस्वुर क्या दे रहा है कुरान मजीद बुरहान रशीद ने अब कोई लफज सिमिलर होता मुतरादफ होता ये मुझे झगड़ा कर लेते हमने इमाम बोला तुम खलीफा बोल के वजाते कर रहे हो तो हमारा लफ्ज और है तुम्हारा लफ्ज और है तो मैं खलीफे से वजात नहीं कर रहा मैं तो इमाम ही से वजाहत कर रहा हूं उन्होंने कहा है कि इमाम सिर्फ एक है और कोई इमाम नहीं है तो कुरान कहता नहीं इमाम तो कई हैं और कुरान मजीद बुरहान रशीद ने यानी इतनी आयात है चूंकि इकतसार पेश नजर है रब जुलजलाल फरमाता है मेरे बंदे वो हैं रहमान के बंदे वो हैं इबादुर रहमान वो हैं जो ये दुआ मांगते हैं वज अल्लामुत्तकीना इमामा है अल्लाह तू हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे इस सिलसिला में जो बतौर खास आयात के साथ आयात पेश करके लोग वारदात करते हैं यही जिनका इमाम हमारा एक है इनकी फिक्र जिन आयात से माहूज है उनके बकौर एक का जिक्र करके फिर उसका की वजाहत करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं बाईसवें पारे में रबाल का फरमान है क्यामत के दिन जहन्नमी जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो कहेंगे या लई तना अतान अल्लाह व अतान रसूला काश कि हम अल्लाह की इतात करते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात करते ये उस दिन उनको अफसोस होगा वकालू और कहेंगे रब्बना ए हमारे रब इन अताना सादाताना व कुबराना हमने अपने सिरदारों की इतात की हमने अपने बड़ों की इतात की फादलून सबीला उन्होंने हमें रस्ते से भटका दिया हमारा तो जुर्म नहीं है बड़ों का जुर्म है जिन्होंने हमें भटकाया है अबाशर के दिन ये जन्मी कह रहे होंगे सादाताना व कोबरा आना हमारे सिरदारों ने हमें गुमराह किया था और बड़ों ने गुमराह किया था इस आयत पर उस तबके के लोगों ने अपनी तफसीरों में लिखा माजल्ला कि कुछ कहेंगे अल्लाह हम गुमराह नहीं हुए हमें इमाम अबू हनीफा ने गुमराह किया था माजल्ला हम गुमराह वैसे नहीं हुए हमें तो इमाम शाफी ने गुमराह किया था यह है वारदात सादाता ना वकोबरा ना आना लफ्ज का तर्जमा वो और आगे मफहूम क्या उम्मत के इमाम वो पेश करके तो बताना चाहते हैं कि तुम हमारी डेढ़ ईट की मस्जिद में आ जाओ उम्मत सारी जिस अकीदे पे है वो झूठ बोलती है उस अकीदे को छोड़ दो तो माजल्ला ये आयत जिन लोगों के बारे में है उनमें से एक बंदा भी मोमिन मुस्लिम नहीं होगा ये कुफार के बारे में है ये मुशरकिन के बारे में है जो कि यहां पर माकबल पढ़ो तो बात सारी वाजे है जिक्र क्या इन अल्लाह लान काफिरीन अल्लाह ने लानत की किस पर काफिरों पर वहम सईरा और उनके लिए दोजख को तैयार किया है अब बात ही काफिरों की है ये है अबू जाल का जिक्र क्यों उसके चेले कहेंगे अल्लाह गुमराह किया हमें अबू जाल ने गुमराह किया हमें उतबा ने गुमराह किया हमें शैबा ने तो कितनी कमीनी सोच है जो आयत को फिट करे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्ला पर आयत को फिट कर इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्ला पर यह था वो खदशा जो मेरे नबी सलाम ने कहा कि मुझे कुरान का भी खतरा है इसे मुनाफिक पड़ जाएंगे और पढ़ के मेरे गुलामों से झगड़ा करेंगे अब देखो बात क्लियर है जिक्र ही सारा कुफार का आ रहा है और वहां पर जिक्र है इन अल्लाह काफिरीन वातलम सईरा खालिदीन अफी आबादा हमेशा उसी में रहेंगे ला याजून वली वला नसीरा उनका वली भी कोई नहीं उनका नसीर भी कोई नहीं जिनका वली है उनकी तो बात ही नहीं हो रही जिनका नसीर है उनकी तो बात ही नहीं हो रही ये उनकी बात हो रही है जिनका ना कोई वली है और ना ही कोई नसीर है यो तुकल्लब वजूह फिन्नार जिस दिन उनके चेहरे आग में पलटे जाएंगे यकूलूना या लई ताना अतान अल्लाह अतान रसूला काश कि हम रब का रब की बात मान के कलमा पड़ जाते काश कि हम मुसलमान हो जाते वकालू और कहेंगे रब वाना इन नाताना साद आताना है अल्लाह हम बड़े काफिरों की बातें मानते रहे उनके पीछे ही रहे अब देखो क्लियर जो है कुफार के बारे में मुशरकिन के बारे में एक लफ्ज भी गुंजाइश नहीं देता कि किसी मुसलमान के बारे में याद पड़ी जाए और ये नाहनजार तबका अपनी एहतजाली सोच जो घर के बनाई है पूरी उम्मत के मुकाबले में उस सोच को पानी देते हैं इस आयत से और इस तरह के दीगर मजमून पढ़ के और फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे एतराज हम पे करते हैं और इल्जाम हमें दिया जा रहा है कि तुमने इमाम मान लिए हैं जबकि इमाम सिर्फ एक हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम कहते हैं उनकी इमामत तो मुनफरद दर्जे की है लेकिन वो ऐसे इमाम हैं जिन्होंने अपनी उम्मत में हजारों इमाम पैदा फरमा दिए हैं बना दिए इस वास्ते ये मैंने आयत पढ़ के सुना दी इसके हवाले भी मेरे पास है कि किस किस ने इस आयत के तहत ये गलत बातें लिखी हैं तुम शायद उर्फ में उनको बड़ा बड़ा मुफसर मानते हो उल कुरान हो या दूसरी बातें हो ये आयात पढ़ के इसके जरिए से उम्मत पर फतवे लगाए गए फतवे दागे गए और उम्मत के मुकदस लोग जिनको रब ने उल अमर में शामिल किया है और कहा है मेरी भी इताद करनी है इनकी भी करनी है अति उल्लाह व अति उल रसूल व उल अमर मिनकुम तुम में से जो उल अमर हैं बात उनकी भी माननी है तो साथ आता ना वाले अगर उल अमर हैं तो फिर तो आते आपस में टकरा गई अल्लाह फरमाता है इतात मेरी भी है मेरे रसूल की भी है और उल अमर की भी है उन्हें अमर वो मुजतहद है जिसको दीन की समझ है और कुरानो सुनने से मसला लोगों को बता देता है इस वास्ते उलिल अमर का हुक्म तो कुरान में है अति उल्लाह व अति रसूल व उलिल अमरे मिनकुम जो तुम में से उलिल अमर हो उनकी इतात करो इतात का जब रब ने हुक्म दिया तो फिर पता चला कि ये जो आयत सादा तना व कुबरा आना वाली है ये उलुल अमर के लिहाज से नहीं है ये मुसलमानों के लिहाज से नहीं है ये तो कुफार के सिरदारों के लिहाज से है और जो इस्लाम में पड़ गया मुश्तहिद बन गया इमामत पे पहुंचा उसकी बात को मानने का रब के कुरान ने हुक्म दिया है एक बार नहीं बार बार अल्लाह फरमाता है वत्तबे सबीला मन अनाब इलई उसके रस्ते की पैरवी करो जो मेरी तरफ झुक गया है इस वास्ते इनकी इतात तो अल्लाह की तरफ जाने की बात है रब का हुक्म है कुरान का फैसला है अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे ऐसे फितनों से और बिलखसूस जो अभी ये जमातुल मुसलमीन की तरज का जो फितना है हर तरफ लिटरेचर बांट रहे हैं अपनी औलादों को ऐसे तमाम राफसियों खारजियों से बचा के रखो रमजान मुबारक का महीना उरूज की तरफ जा रहा है और मकफरत पर अब आगे जन्म से आज़ादी का अशरा भी आने वाला है और ये अशरा एहतिकाफ का अशरा भी है एहतिकाफ एक ऐसी सादत है जिसकी वजह से बंदा मस्जिद में बैठकर बंदगी में मसरूफ रहता है तो बहर के गुनाहों से बच जाता है लेकिन बहर की नेकियां किए बगैर ही उसको मिलती रहती हैं मस्जिद में जितने बहर समाजी काम करता था और जितनी खिदमतों में मसरूफ होता था वो सारे का सारा मस्जिद के अंदर ही उसको स्वाब मिलता जाएगा दस दिन का इतकाफ कितनी बड़ी सादत है इससे अंदाजा लगा लीजिए मेरे नबी इस्लाम ने फरमाया मने मने ताकाफा यौमन इब्तिगा वजहिल्ला जिसने रब की रजा के हसूल के लिए एक दिन का भी एतकाफ कर लिया रब जलाल उसके और जहन्नम में इतना फासला बना देगा जितनी तीन खंदकें होती हैं और एक खंदक इतनी है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला मौजूद है इतना उसको दूर कर देगा एतकाफ बैठना भी है और फिर उसके तकाजे भी पूरे करने हैं कि एहतिकाफ जिस मकसद के लिए है वो मकसद हासिल हो अल्लाह ताला के फजल करम से फाम दीन कोर्स आबोताब के साथ जारी है हमारा कल का मौजू है कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया थे तो नहायत ही अहम मौजू है नौजवानों के लिहाज से वक्त से उसमें शिरकत करें और सब हजरात जेन में रखें चंद सबक बाकी रह गए हैं आगे फिर किस्मत और नसीब की बात है चंद इस्बाक हैं कोई भी इसमें नागा ना करे और दमे शहर वहां पहुंचा करे ताकि इफाम दीन कोर्स का बकिया हिस्सा सारे मुकम्मल कर सकें अपनी बात इस दुआ पे ख़त्म कर रहा हूं इलाही पुर असर मेरी दुआ कर बेजाह मुस्तफ़ा खैरुलवरा कर खुदा बंदा दुआ मेरी यही है मेरे मुमताज़ गाजी को रिहा कर और ये याद रखें अगला जुमा जो है मुझे है हुक्म अजाम ला इलाहा इल्लल्लाह इस इंटरनेशनल मौजू पे होगा वक्त पे पहुंचना वाखिर दावा यानी अलहमदिल्ला रबीआलमी